गीता पंचदश अध्याय द्वादश श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था यदादित्यगतम तेजो जगत भाषा ही तेखिलम यद्रवश्य चावरव तत्तेजो विद्युमान भगम यह श्लोक था चार श्लोकों के द्वारा भगवान अपने विभूति का वर्णन करते हैं संक्षेप से विभूति का वर्णन ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं एक तो यही है दूसरा गामा विशेष भूतानी दूसरा आएगा तीसरा अहम वैश्वानुरूप भूतवा चौथा आएगा सर्वस्व चाहम हृदय निविष्ट चार श्लोक है अपना विभूति के विस्तार करते हैं चार श्लोक द्वारा पहले कहा था गच्छंत मूढ़ा पदम व्ययम तद कहा हुआ था निर्माण मोह चित्संग दोष अध्यात्म नित्यवृत्त काम द्वंद्वेर में सुख दुख संजय गच्छंत मूढ़ा पदमद्वयम अमूढ़ा परमम तत्पदम गच्छंती ऐसा आया था तो पद शब्द से कहा था और यहां पर तेज शब्द से कहते उसी को मेरा स्थान विशेष भौतिक स्थान नहीं है मेरा भूतों के द्वारा बना हुआ स्वर्ग आदि लोग ऐसा मेरा स्थान नहीं है आत्मा का स्थान नहीं होता प्रकाश रूप स्थान प्रकाश की चर्चा है जो पद शब्द का स्थान करके था वो स्थान ये ऐसा स्थान नहीं है अपना अभिप्राय बताया आदित्य कदम ये तेज आदित्य में पड़ा हुआ जो तेज है प्रकाश है आदित्य मान पिंड लेना बाहर का जो वर्तुलाकार पिंड है आदित्य उसमें पड़ा हुआ जो तेज है आदित्य में आश्रय है आश्रित है तेज वह तेज अखिलम जगत भाषा है संपूर्ण जगत का जो प्रकाश कर रहा है जो तेज जो आदित्य में आश्रित है तेज और संपूर्ण जगत को प्रकाश कर रहा है और यह चंद्रमा चंद्रवशी का जो चंद्रमा भी तेज है रात्रि में जगत को प्रकाश कर रहा होगी अखिलम जगत प्रकाश है थे भाषा है तो वही है वहां की और यच्च अग्नव अग्नि में भी कुछ प्रकाश करने की शक्ति है तेज अग्नि से मणि आदि जितने भी सब भौतिक पदार्थ जितने सब अग्नि शब्द से आ जाएगा जितने भी हों तो ये सब के सब जितने भी हैं तेज तीन विशेष बता दिया बाकी सारे जहां जहां प्रकाश पाया जाता है वो प्रकाश एक कहना है तत्तेजो वह जो तेज है मामगम विधि मदीयम विधि मेरा समझो जैसे भवदीय आदि आपका भवदीय बोलते हैं मदीय एक छ प्रत्यय होता है तो मदीय होता है या छ न करे अड़ किया हुआ है तस्कम अर्थ में वो तेज मेरा है यदि खाए करते तो आसमा की कीनम हो जाता खाए भी होता है वहां युष्मा सूत्र अन्यतर खाए का सूत्र है और अण तो चल रहा पूर्व से प्रागद्युक्त अण से अण चल रहा है और प्रत्युत्तर पदस्थ से छह प्रत्येक होता है तीन प्रत्यय की चर्चा होती है तो वो तेज मेरा समझो माने वो तेज मैं ही हूं ऐसा समझो ये कहना है माने मेरे प्रकाश से प्रकाशित होकर के जगत को प्रकाश कर रहे वो ये है जैसे लोहा जलाता है स्वयं जलने के बाद जलाएगा स्वतः नहीं जला सकता जहां जहां तेजस्वी पदार्थ पाए जाते वो मेरे ही तेज है वो ठीक है प्रकाश में पदार्थ जहां जहां है वो प्रकाश उनका रहे मेरे प्रकाशित स्वयं प्रकाशित हो गए उसके पश्चात जगत को प्रकाश कर रहे स्थिति समझो ये कहा हुआ है भाष्य हो गया था ना इसका ठीक है जीवात्मत्व चिद्रूपत्तम होता है जीवात्म रूप से पहले चैतन्य कहा था चेतन कह करके मैंने जीव जीव स्वरूप परमात्मा आत्मस्वरूप होने से चेतन कहा तदीयत्व तदीय चैतन्य न आदित्यादि नम अभाषकत्वाद करें पहले जीव शब्द जीवभूत सनातन इत्यादि आया था तो जीव शब्द से कहा हुआ था जीव को अगर चेतन कहा परमात्मा को चेतन कहने के पश्चात तदीय चैतन्य वो तदीय है मान जीव रूप से जो चैतन्य दिखता है हम उसी चैतन्य के द्वारा आदित्यादि में उपासकत्वाच अच्छा, आदित्यादि को प्रकाश चेतन ही भाषित का प्रकाश करेगा आदित्यादि को ये दोनों हेतु दिया ब्रह्म सिद्ध रूपतम वहा ब्रह्म कैसा है चेतन स्वरूप सिद्ध होता है पहले ममे वामसो जीवभूत जीवलोके जीवभूत सनातन कहा हुआ है तो जीव शब्द से कहा कहने से चेतन हो गया है जड़ नहीं सिद्ध हो गया मेरा अंश है जीव स्वरूप कहा था चेतन बताया उस स्वरूप से और तदीय चैतन्य न जीव में जो चैतन्य है उस चैतन्य के द्वारा ही आदित्यादि ने अपास करता है आदित्यादि को प्रकाशक है मुनि से ब्रह्म चिद रूपोत्तम इत्या ब्रह्म चेतन स्वरूप है जड़ नहीं है क्यों तो मुंबई बांसो जीवलूपी जीवभूत सनातन करके जीव शब्द से कहा जीव चेतन होता है मेरे अंश है कहा तो अंश जब चेतन है तो वो मुख्य मूल पुरुष चेतन ही होगा जो चेतन का अंश चेतन होता है अंश माने अंश जैसा दिखता है उपाधि के कारण ऐसा किया हुआ था तो ब्रह्म चेतन है जड़ नहीं है ये सिद्ध हुआ इसलिए कहते हैं चेतन होने से क्या होगा कहते हैं यद आदित्य का तम तेज जगत भाषा देख लेंगे इत्यादि का आदित्य आदि में पड़ा हुआ जो तेज है संपूर्ण जगत का जो प्रकाश कर रहा है वो तेज मेरा स्वरूप है आदित्य पिंड अलग है तेज अलग है जिसको किरण आदि जो शब्द से बोलते हैं से ब्रह्मणा सर्वात्मकत्व तो श्लोक में आ जाता है चेतन स्वरूप जो ब्रह्म का ही सर्वरूप ब्रह्म ही है चेतन स्वरूप ब्रह्म ही सर्वरूप है इस प्रतिपादक रूप से श्लोक की व्याख्या करते हैं सर्वरूप मान सर्वात्म स्वरूप वर्णन करना है इस रूप से इस श्लोक का वर्णन करना है यदादित्य गतम तेजो जगतवास है आदि ये कहा इत्यादि भाषण कहा यदादित्य गतम आदित्याश्रय कहा उसका अर्थ आदित्य में आश्रित आश्रय आदित्य है आश्रय जिसका जिस तेज का किस तेज का जो आदित्यगत तेज है आदित्य आश्रय जिसका किम क्या है आदित्य आश्रय वाले क्या है तेज हाँ? वो जो तेज है तेज मान दीप्ति प्रकाश हाँ, वह पर्यायवाचक शब्द है तेज मान दीप्ति दीप्त दीप धातु है प्रकाश अर्थ में है और प्रकाश भी उसी का अर्थ काश्री दीप्त हुआ है जगत भाषा है कहा संपूर्ण जगत प्रकाश है थी अखिलम समस्तम जगत है कहा संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है जो तेज किंतु वह तेज आदित्य का नहीं है यह समझना यह चंद्रवशी जो चंद्रमा में तेज है रात्रि में जो प्रकाश करने का स्वरूप तेज है चंद्रवशी माने सस वृत्ति बोलते हैं खड़गोश धारण करने वाला सस माने खड़गोश होता है डुब्रिया भरण पोषण धातु है या धारण अर्थ है सरस्वती का मैंने खरगोश को धारण करने वाले जो चंद्रमा है वो तेज तेज अववासक जो चंद्रमा में तेज है अववासक बरतते रहता है यच्च अग्नव हुतव है हुतव हुतम बहती तो हुतवा जो हवन किया हुआ होता है उसको वहन करने वाला लेने वाला उसको हुतवा कहते हैं अग्नि को तत्तेजो विद्धि उस तेज मामकम विद्धि आगे विद्धि मन बीजानी ही जानो विशेष रूप से जानो मामकम मदीयम मेरे तेज है वो मेरा तेज है समझो माने मम मामगम माने क्या मदीय माने मम विष्णु ज्योति का वो ज्योति जो सूर्य में है चंद्र में है ज्योति माने प्रकाश अग्नि में है वो ज्योति मेरी ज्योति है कहा अथवा दूसरे व्याख्या करना ठीक है पहले आदित्य आदो तत्र तत्र आदित्यादि तत्त पदार्थ में जो स्थित तेज है प्रकाश है जितने प्रकाशशील पदार्थ होंगे सभी में ये तो दृष्टांत के लिए तो भी कह दिया कि आदित्य आदव जो आदित्य आदि है आदित्य है चंद्र है अग्नि है इत्यादि में तत्र तत्र उन सारों में स्थितम जो थी तेज है ब्रह्मचैतन्य ज्योति ब्रह्मचैतन्य स्वरूप प्रकाश ही हो ज्योति माने प्रकाश सर्वभाषक सबको प्रकाश करने वाले प्रकाश हैं ऐसे प्रकाश वो मेरा ही मेरा ही समझो ये कहा हुआ है ब्रह्मण सर्वज्ञत्व चित रूपतम अत्र विवक्षतम ब्रह्म सर्वज्ञ है सबको जानता है इसलिए चेतन स्वरूप है ब्रह्म जड़ नहीं है अत्र विवक्षित इस लोक में विवक्षित है यह व्याख्यांतर ब्रह्म चेतन है यह सिद्ध करने की अन्य व्याख्या पहली व्याख्या हो गई वो ज्योति मेरी ज्योति का अब दूसरे प्रकार की व्याख्या चेतन स्वरूप सिद्ध करना है कहना है अथवा करके भाषण का यदा गतम तेजस चैतन्यात्मकम जो आदित्य में पड़ा हुआ तेज कैसे चेतन स्वरूप तेज है कैसे तेज हाँ, चैतन्य स्वरूप जो तेज है ज्योति तेज माने यह चंद्रवशी जो चंद्रमा में है वही चैतन्य स्वरूप तेज यच्च अग्नव जो अग्नि में वह तेज है चैतन्य स्वरूप तेज माने वो तेज को प्रकाश को परमात्मा स्वरूप देखना है चैतन्य स्वरूप तेज हाँ विद्धि मामकम मरी मेरा ही है वो मम विष्णु ज्योति का मैं विष्णु को ज्योति बन प्रकाश मेरा ही है वो चैतन्य स्वरूप ज्योति मेरा है ठीक है वे कहते हैं आगे चैतन्य ज्योतिष सर्वत्र अविशेष चैतन्य ज्योति एक प्रश्न उठता है वो तो सर्वत्र व्यापक है ऊपर चैतन्य ज्योति व्यापक है फिर विशेष विशेष स्थान देखा में दर्द है क्यों विशेष स्थान दिखाया जब वो व्यापक है वो सर्वत्र है यह शंका है चैतन्य ज्योतिष चैतन्य ज्योति का सर्वत्र अविशेषा तो उसका तो अभाव कहीं भी नहीं है समान रूप से सर्वत्र है संपूर्ण लोक में है ये तीन स्थान क्यों दिखाया फिर विशेष जब सर्वत्र है तो ये स्थान क्यों यही है अविशेषा आदित्य तत्व तो विशेषण अधिकतम जो आदित्यगत विशेषण आदित्य आदि जो तीन में विशेषण लगा दिया आदित्यगत चंद्रगत अग्रियुक्त कहा व्यर्थम ये व्यर्थ है अयुक्तम ठीक नहीं है इति शंकते पूर्वादि शंका करता है तो सर्वत्र है वो तेज तो ये तीन स्थान बताना अयुक्त है ठीक नहीं है युक्त संगत ने कहा ननु यह संग है ननु थावरेशु जंगमेशु तत्समान चैतन्यात्मक ज्योति वो चैतन्य स्वरूप ज्योति तो सर्वत्र ही है चाहे थावर पदार्थ हो चाहे हाँ, जंगम पदार्थ हो चराचर जगत में सर्वत्र समान है वो तेज तो तत्र उस स्थिति में जब जो सभी में संपूर्ण व्यापक है वो तेज चैतन्य स्वरूप तेज कथम इदम विशेषण ये विशेषण कैसे लगा दिया आदित्य कथम चंद्रमसी अवनव इत्यादि क्यों कहा यदादित्य कथम इत्यादि विशेषण क्यों ये प्रश्न है तो उत्तर देंगे नैष्ठ दोष के द्वारा मान स्वच्छ पदार्थ है वह प्रकाशित हो रहा तेज अन्यत्र प्रकाशित नहीं पा रहा है है तो सर्वत्र है तेज किंतु उनमें प्रकाशित उनमें दिखाई पड़ता है भासता है अन्यत्र नहीं भास रहा है ये कहना है ठीक है मैं कहते हैं सर्वत्र सत्व भी है सर्वत्र है वो तेज चैतन्य स्वरूप तेज सर्वत्र है सामान्य तेज सभी स्थानों पर पाया जाता है सर्वत्र सत्य भी सर्वत्र होने पर भी कुछ देव अभिव्यक्ति विशेषाद विशेषण कहीं कहीं अभिव्यक्ति विशेष हो जाता है अन्यत्र अभिव्यक्ति नहीं हो रही एक विशेष स्थान पर अभिव्यक्ति हो जाती है इसलिए विशेषण इसलिए दिया गया परिहारती नहीं सब कोई दोष नहीं है सर्वत्र होने पर भी विशेष स्थान है उपलब्धि का स्थान वही है है तो सर्वत्र है क्योंकि सर्वत्र पाया नहीं जा रहा वह सीधा सीधा दिख रहा है जैसे देखो वो चैतन्य ज्योति सर्वत्र है प्रकाश रूप ज्योति जैसे काष्ट में अग्नि नहीं पाई जाती स्वतः नहीं जल रहा है वो जो साधारण परमात्मा का स्वरूप है चैतन्य स्वरूप स्वरूप है सबका पोषक है काष्ट को बढ़ाने वाला वही है पेड़ को बढ़ाता है बढ़ाता है जब अरणि मंथन करते उसी लकड़ी को नीचे ऊपर और बीच में लगा करके जैसे दही मथते मसानी से सर मथने पर वहीं पर आग निकल जाती है अब लकड़ी से आग निकलती है आग है वहां अग्नि निकलती है वो उसको भी खाएगी अंडे को खा जाएगी इसी प्रकार यहां भी चेतन सर्वत्र है विद्यमान है होते हुए भी विशेष स्थिति में उपलब्ध होता है विशेष स्थान में होता है वो चेतन सर्वत्र यहां शरीर में भी व्याप्त है व्यापक है तो शरीर में भी परिचन्न नहीं है किंतु हृदय में पाया जाता है जब हृदय में मथानी लगा कर मन रूपी मथानी बुद्धि के द्वारा पता जाए तो हाँ अम ब्रह्मास्म वृत्ति होगी तब तक नहीं होगी स्थिति है मैंने वृत्ति आरूढ़ जो चेतन होगा वही अज्ञान का नाशक होता है साधारण चेतन जो सर्वव्यापक चेतन है उस अज्ञान का नाश नहीं कर सकता वृत्ति आरूढ़ अहम हम ब्रह्मा मन में जो वृत्ति होगी हम ब्रह्मा ब्रह्माकार वृत्ति उसमें आरूढ़ जो प्रतिफलित चेतन होगा वही होता है अज्ञान का नाशक जैसे काष्ट में अग्नि व्याप्त है होते हुए भी मंथन करने के बाद ही जो अग्नि निकलती है वहां वो अग्नि उस लकड़ी को भी खा जाती है अन्य को भी खा जाती है ठीक इस प्रकार है यहां ये समझ रहा है तो ये तीन थानों में विशेष रूप में पाया जाता है सर्वत्र होने पर भी विशेषण इसे दिया गया कहीं कहीं अभिव्यक्ति है उस तेज की सर्वत्र नहीं है ये कहा इसलिए नैश दोष शब्द से कहा था नैश दोष भाष्य में कहा सत्वाधिक्याद आदि सतगुण विशिष्ट पदार्थ है अधिक को अन्य पदार्थ रजगुण विशिष्ट है तमगुण विशिष्ट है उन वो ज्योति होते हुए भी दबी हुई है पाया नहीं जाता सत्वाधिक्याद उन उन थानों में सत्व अधिक है सत्वगुण की अधिकता है इसलिए वो ज्योति वहां भाजती है ठीक है ये कहा ये भाष्य में कहा आदित्यादिशु ही टीका में तदेव आदि सत्वाधिक का ही प्रपंचित करते विस्तार करते हैं सत्व अधिक है वहां आदित्यादि तीन में आदित्य चंद्र अग्नि में उसे कहा आदित्यादिशु ही भाषमा ही माने अस्मात आदित्यादिशु जो आदित्यादि तीन पदार्थ जो गिने गए हैं यहां सत्वम अत्यंत प्रकाशम सतुगुण अत्यंत प्रकाश है रजुगुण तमगुण से मलिन नहीं है वहां सतुगुण दबा हुआ नहीं है मलिन है मलिन नहीं है अत्यंत प्रकाश है वो सतुगुण अत्यंत भाव स्वरूप अत्यंत स्वच्छ है सफेद गुण आदित्य तत्र आविष्काराम ज्योति तद विशेष है वहीं पर विशेष रूप से प्रादुर्भाव हो रही ज्योति आविस्तर हो रही है प्रकाशित हो रही हुई ज्योति वहां इसे तद विशेषण इसलिए उसको विशेषण लगा करके पृथक किया जाता है जिसको आदित्यादि दृष्टांत के लिए है तो सर्वत्र ज्योति चैतन्य स्वरूप ज्योति किंतु वहां पर विशेष रूप से पाया जाता है क्यों वहां सदगुण की अधिकता है न तो किंतु ऐसा नहीं समझना कि वही तीनों में ही है ये वो ज्योति अन्यत्र नहीं न तो तत्र ही था अधिकम वही अधिक तो नहीं होते तेज तो समान है किंतु वो पदार्थ स्वच्छ होने के कारण वह अधिक तेज दिखता है पदार्थ स्वच्छ है कौन आदित्य आदि अन्य पदार्थ मलिन है इसलिए वहां पाया नहीं जा रहा तेज है तो सर्वत्र होते चैतन्य स्वरूप तेज ये कहा यथा ही लोग दृष्टांत देकर बोला यथा ही लोग जिस प्रकार लोक में देखो ना व्यवहार काल में देखो तुल्य भी मुख स्थान है मुख के मान शीशा के सामने भी मुख है लकड़ी के सामने भी मुख है हमारा मुख किंतु शीशा में हमारा प्रतिबिंब दिखता है लकड़ी में नहीं दिखता क्यों वो पदार्थों में तारतम्य भाव होने का हमारे मुख में तारतम्य नहीं मुख एक ही हमारा शीशा में दिखाई पड़ता है काष्ठ में नहीं दिखाई देता या मुख में तारतम्य नहीं है किसमें तारतम्य है विषय में है ठीक इसी प्रकार यहां भी विषयों में तारतम्य के कारण वो तेज वहां आदि में प्रकाश रूप से दिखा चैतन्य स्वरूप तेज क्योंकि तो अन्यत्र नहीं दिखता तारतम्य बात विषयों में है उत्तर देना है इसलिए कहा टीका में बोलते हैं सदरत सर्वत्र चैतन्य ज्योतिषा तुल्यत्व भी ब्रह्मांड में पूरे संसार में चैतन्य ज्योति समान है वहां विशेषता नहीं कहीं होना कहीं नहीं होना ऐसा नहीं है समान होने पर भी कुछ देव अभिव्यक्ति कहीं कहीं उसकी अभिव्यक्ति होती है विशेषण उपत्यम दृष्टांत वैसे विशेषण की सिद्धि हो जाती है दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं दृष्टांत क्या दिया हमारे मुख का और काष्टादि पदार्थ है उनका दृष्टांत है यथा ही करके भाषा में कहा था यथा ही लोके तुल्य भी मुख संस्था ने कहा जिस प्रकार मुख सर्वत्र समान है सामने काष्ठ भी है सामने शीशा भी है दोनों समान होने पर भी काष्ठ आदो काष्ट लकड़ी है कुंडी मानी दीवाल दीवाल में प्रतिबिंब वहां पर नहीं दिखता काष्ट में नहीं दिखता किंतु आदर्श आदो तो स्वच्छ स्वच्छ तरह तरेच शीशा आदि जो स्वच्छ है अथवा स्वच्छतर पदार्थ है स्वच्छ में स्वच्छ होंगे उनमें दिखाई पड़ता है हमारा मुख वहां दिखता है या नहीं दिखता ठीक इस प्रकार तारतम्य आविर्भवती तारतम्य भाव से होगा क्यों वो जो पदार्थ तारतम्य है शीशा आदि पदार्थ में तारतम्य है कोई थोड़ा मलिन होगा कोई पष्ट होगा वहां तारतम्य होने से हमारा स्वरूप का भी तारतम्य भाव से दिखेगा मलिन दिखाई पड़ेगा तो स्वच्छ दिखाई पड़ेगा जो अत्यंत मलिन हो गया वो दिखाई नहीं पड़ता ठीक इसी प्रकार ये उस आत्मचैतन्य जो है सर्वत्र विद्यमान होने पर भी आदित्य आदि में ज्योति रूप से विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है इसलिए दृष्टांत दिया गया विशेषण इसलिए लगाया यही कहा आगे टीका में है इत सर्वात्मत्व इस हेतु से भी परमात्मा सर्वात्म है आगे हेतु देना चाहते हैं तर्क है इत सर्वात्मत्व प्रकृत पद से जो पद शब्द से कहा हुआ था निर्माण मोहादित संगतोषा अध्यात्म विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्त सुख दुख संजय गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययम पदम अव्ययम पदम तद गच्छति कहा था अमूढ़ लोग ज्ञानी लोग विवेकी लोग प्राप्त करते कहा था वह पद शब्द से कहा हुआ था प्रकृत पद वही है उसी के तेज शब्द से बोला द्वादश अध्याय में ये द्वादश श्लोक में तेज शब्द से कहा था अब कहना चाहते हैं और बल शब्द से प्रयोग करते हैं पृथ्वी का धारण करने वाला मैं हूं अपने बल के द्वारा ये कहना चाहते हैं यहां तीन चक्र के वास्तव में कहा इसको श्लोक है गावा गावाविश्य हम हो जसा पुष्पा में चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मक कामाविश्य च धारया मेह मोजसा पुष्पा में चौषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकः गाम गो शब्द का द्वितीय एक वचन गाम औतो अम ससो ऐसा सूत्र है ओकारांत से विहित जो अम हो ससो परे हो तो पूर्व में क्या होगा आकार आदि ओकार को आकार आदेश होगा बोलता हो सूत्र वही लगा हुआ है गो शब्द पृथ्वी के लिए प्रयोग होगा यहाँ गाय के लिए तो प्रसिद्ध है यह गो शब्द का प्रयोग इंद्रियों को भी गो बोलते हैं थान थान पर गो शब्द का प्रयोग प्रसंग के आधार पर अर्थ समझना होगा या पृथ्वी अर्थ ले रहा है गाय पृथ्वी में कहना था पृथ्वी को ये कहना था धारण करता हूं बोलते हैं गांव आविष्य पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर तो पानी के ऊपर पृथ्वी बैठी हुई होती है पुराणों के माध्यम से जल के ऊपर है पृथ्वी तो उसको मैं धारण करके बैठा हुआ हूं नहीं तो ये डूब जाती नीचे पानी है नीचे गाम आविष्य भूतानी धारया में अहम ओजसा ओजसा बले न ये अर्थ होना है वजस प्राण बल प्राण बल यो धातु है वजस धातु प्राण क्रिया अर्थ में अथवा बल अर्थ में बल है वजस का तृतीयांत है मैं अपने बल के द्वारा अपने शक्ति के द्वारा गाम आविश्य पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके भूतानी धारे हमें पृथ्वी के ऊपर जितने भूत हैं पंच चराचरात्मक जगत जितने भी है सबको मैं धारण करता हूं यदि मैं न हूं धारण न करूं पृथ्वी डूब जाएगी सारे भूत नष्ट हो जाएंगे कहा ओजसा मन तृतीयांत मैं बल के द्वारा शक्ति अपने शक्ति बल के द्वारा गांव आविष्य पृथ्वी में प्रवेश करके गांव माने पृथ्वी पृथ्वी है पृथ्वी को प्रवेश करके द्वितीयांत है भूतानी धारे आमी हम कहा मैं भूतों को धारण करता हूं भगवंत इत भूतानी होने वाले चराचर जगत जितने भी सबको धारण करने वाला मैं होता हूं और पुष्णामी च औषधि सर्वा सर्वा औषधि पुष्णामी च और भी काम करता हूं सारे औषधियों को पोषित करता हूं क्या बोल करके चंद्रमा बन करके कहते हैं चंद्रमा अमृत दिन भर के जो सूर्य के किरण के द्वारा तपे हुए होते हैं जितने भी लता गुलवादी जितने भी औषधियां हैं हाँ। धान्य आदि जो भी पदार्थ हो इन सबको रात्रि में चंद्रमा अपने किरण के द्वारा उनको अमृत वर्षा करके जीवित करते हैं थे ये यहां शोभो भूतवा रसात्मक शोभो भूतवा रस रूप रस रूप अमृत स्वरूप चंद्र बन करके मैं चंद्रमा बन करके सारे औषधियों को पोषित करता हूं ये, स्थिति है ये कहा हुआ है गाम का अर्थ प्रतिबिंब बोल दिया वास्तव में या इंद्रिय अर्थ नहीं लेना गो शब्द का हाँ। और <clears throat> गाय अर्थ भी नहीं लेता है पृथ्वी का एक गो शब्द का या गो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी गा मान पृथ्वी में आविश्य प्रविश्य प्रवेश करके पृथ्वी में प्रवेश कर धारया में मैं धारण करता हूं किसका भूतानी भवंती तो भूतानी होने वाले जड़ चेतन पदार्थ सबको मैं धारण करता हूं भूतानी माने भूतानी जगत भूत रूप जो जगत है यही है अहम ओजसा मन बले ना ओजसा मन बले बल के द्वारा धारण करता हूं यद बलम जिस बल को सप्तम अध्याय में कहा था बलम बलवता मस्मी काम बराग विपरीत तुम धर्मा विरुद्ध काम विद्धि भर तरह कहा होता था सप्तम अध्याय में बलम बलवता जिस बलवानों में जो बल है ना कामराग विपरीतम बलम ये बल पाई हूं मेरा स्वरूप कहा था वही बल है यहां बलम कामराग विवर्जितम सप्तम अध्याय की याद दिला रहे हैं सप्तम अध्याय में कहा था बलम बलपता मस्मी कामराग विवर्जितम कहा हुआ था उसके याद दिला रहे हैं वो बल वो उस बल के द्वारा जिसमें आसक्ति भी नहीं है राग भी नहीं इच्छा आदि भी नहीं जब वस्तु धारण करना मात्र होता है ऐसा बल ऐश्वरम जो ईश्वर संबंधी बल है ऐश्वरम बलम ईश्वर संबंधी बल को ऐश्वरम बोलते हैं ईश्वर संबंधी जो बल है जगत विधारणाय पृथ्व्याम प्रवेश जगत को धारण करने के लिए पृथ्वी में प्रविष्ट ऐश्वर्य ऐश्वर्य जो बल है ईश्वर संबंधी बल है जगत विधारणाय में एक मात्रा ज्यादा छप गया एक डंडा हटा देना चाहिए जगत विधारणाय पृथ्व्याम प्रविष्टम जगत को धारण विशेष रूप से धारण करने के लिए पृथ्वी में प्रविष्ट है जो बल प्रविष्टम एन गुरवी पृथ्वी नादपत पद्धति जिसके द्वारा जब मैं धारण कर रहा हूं बल के द्वारा ये ना कारण है जिस कारण से गुरु भी पृथ्वी माने ये क्या गुरुत्व शक्ति से युक्त है पृथ्वी नीचे जाने की इसमें क्षमता है गुरुत्व शक्ति है इसमें गुरुत्व है गुरुत्व के कारण क्या हो जाता है नीचे दब जाता कितना भी वजनदार होगा नीचे कुछ उसको पकड़ने वाला नहीं होता तो नीचे चल जाएगा वो गुरु भी पृथ्वी जो गुरु पृथ्वी है जिसमें गुरुत्व गुण बैठा हुआ है जिस पृथ्वी में गुरु माने ओजत वजन जो वजन बैठा हुआ पृथ्वी वजन गुण है वहां पृथ्वी न आधा पतती आधा न पतती जिस मैं धारण कर रहा हूं अपने बल के द्वारा इसलिए पृथ्वी नीचे नहीं जा रही है नहीं तो रसातल पहुंच जाती है न थे फटती भी नहीं है धारण है टूट करके जाती भी नहीं दरार भी नहीं आता पृथ्वी नीचे बल के मेरे बल से धारण किया हुआ है तथा तो मंत्र वर्णा कहते हैं श्वेतासुर परिषद तो कहा है तैतृ संहिता में एन देव रुग्रा पृथ्वी से दृढ़ा कहते हैं एन परमात्मा जिस परमात्मा के द्वारा देव माने आकाश स्वर्ग पृथ्वी से पृथ्वी उग्रा माने उद्धरण उद्धृत हो रहे ऊपर वाला नीचे नहीं गिर रहा है और ये ये नीचे है वो नीचे नहीं जा रही है जिसके द्वारा स्थिति है एक को ऊपर ही लटकाया हुआ है एक को यहां नीचे लटकाया हुआ है जिस बल ने ऐसा काम कर रखा है ये परमात्मा स्वरूप बल के द्वारा जिस बल के द्वारा देव माने स्वर्ग समझो स्वर्ग है और पृथ्वी माने पृथ्वी है उग्रा दृढ़ा दृढ़ा उग्रा दृढ़ रूप से धारण किया हुआ है दृढ़ उग्रा बने उद्धर उद्धार हुआ है उद्धरण किया हुआ जिसके द्वारा ये दोनों को अपने स्थिति में रखा हुआ है इति और सद आधार एवं द्याम उत तस्मयी देवाय अभिख्याम देवा ऋग संहिता में है सदाधार आधार उसने धारण किया उस परमात्मा ने सब मान परमात्मा उसने क्या किया धारण किया किसको पृथ्वी पृथ्वी को धारण किया है नहीं तो पृथ्वी नीचे रसातल पहुंच जाती इसके नीचे कोई आश्रय नहीं है हाँ, पानी के ऊपर लटकी हुई होती है पुराणों के माध्यम से तो वो नीचे चला जाना चाहिए नहीं जा रही है कछुआ बन करके धारण किया कच्छप रूप का वर्णन करते हैं यहाँ बल यहाँ बल शब्द का प्रयोग किया दस अवतार में कच्छप रूप का वर्णन है कछुआ का वर्णन है इत्यादि इत्यादि श्रुतियां बोलती है परमात्मा के द्वारा पृथ्वी धारित है इसलिए रसातल नहीं जा रही है इसलिए गामा विश्व भूतान धारया मैं जैसा कहा हुआ है यहां और दूसरी बात दूसरे काम करता पुष्टा में चाहे औषधि सर्वा जितने भी औषधियां है ना वनस्पति और औषधि दो प्रकार के होते हैं वनस्पति माने पेड़ अनेक बार फल देने वाले और औषधि माने होता है औषधि फल पाकांता फल पके स्वयं में नष्ट हो गया उसको औषधि कहते हैं औषधि फल पाकांता अमर कोशकार ने कहा औषधि शब्द का अर्थ फल बनने के बाद में नष्ट हो जाते हैं जैसे धान आदि है फल तैयार हो गया उसके बाद स्वयं पलाली नष्ट हो जाती है दोबारा उसमें नहीं आएगा एक ही बार आता उसको कहते हैं औषधि जितने भी पदार्थ हैं और दूसरा वनस्पति अनेक बार फल देने वाले होते हैं स्थिति है पुष्णामिच औषधि सर्वा कहा था <clears throat> यही है अतो गामाविश भूतानी इसलिए मैं पृथ्वी में प्रवेश करके चराचराणी धारयामी चराचर दो प्रकार के जगत माने जाते हैं चलने वाले और न चलने चलने वाले को चर बोलते हैं न चलने वाले अचर बोलते हैं वृक्ष आदि पर्वत आदि अचर हैं मनुष्य आदि पशु पक्षी आदि चर हैं दोनों का मैं धारण करता हूं कहा युक्तम उत्तम ये ठीक कहा ये भगवान ने ठीक कहा भाष्यकार कहते क्यों वेद भी ऐसे बोला भगवान के बारे में ये नवरुग्रा पृथ्वी चतुढ़ा और सताधार पृथ्वी उतद्याम कस्मे देवाय अभिखापी देवा आदि श्रुति है किंच और भी बात है केवल पृथ्वी को ही धारण करता हूं इतनी बात नहीं ऊपर से मैं चंद्रमा मन करके माने अपने अमृत रूपी छिड़क करके कि मैंने उसको अमृत छिड़क करके मैं औषधियों को पुष्टि करता हूं ये कहना किंच हम जाता औषधि पृथ्वी में उत्पन्न होती और औषधियां जितने भी है वह औषधि औषधि सर्वा सबके सब औषधियों को माने फल पकने के बाद जो समाप्त हो जाते हैं औषधियों को वाद्य जो धान जव आदि सब औषधि में आते हैं पुष्टामी में पुष्टिपति पुष्टिमति करोगी इत्यादि अर्थ है पुष्टामी मैं पुष्ट बनाता हूं औषधि को रसा स्वादुमती और रस के द्वारा स्वादु सुस्वादु भी बनाऊंगा उसको तो करो भाई ऐसा करता हूं सब रसों को औषधियों को पुष्टि करता हूं मैंने रस आस्वादुवती रस आस्वादन भी कर देता हूं सोमभूता रसात्मक रसात्मक सोम बन करके चंद्रमा बन करके सोम मान सर्व रसात्मक हो सर्व स्वभाव रस स्वभाव सर्व रसना नाम आकर सोम कहते हैं सोम कैसा है सर्वरस स्वरूप है सर्वरस स्वभाव जो सर्वरस माने जाते हैं ना अमलादि जैसे प्रकार के स्वाद जिसको स्वाद बोलते टेस्ट बोलते हैं संस्कृत में रस कहा जाता है उसको इसलिए इसको रस इंद्रिय बोलते हैं टेस्ट लेने वाली यही जुआ है स्वाद लेने वाली हाँ। उसको द्रव्यों से मतलब नहीं है स्वाद से मतलब है स्वाद द्रव्य नहीं है स्वाद द्रव्य में है गुण है वो रूप रस गंध स्पर्श आदि में रस एक गुण है तो रस स्वभाव है चंद्रमा सर्वरसमानाम रसाराम आकर सभी रसों में वो आकर है खान है जितने भी स्वाद होते हैं जो सब सब प्रकार के स्वाद मानते हैं नैया के आदि ने माना है अमला आदि लवड़ आदि जो छह प्रकार के स्वाद मानते हैं टेस्ट वो सर्वर रसों का आकर है मैंने खान है वो सोम औषम सही सोम ही यस्मात सर्वा औषधि संपूर्ण औषधियों को वही पुष्टि करता है स्वात्म रस अनुप्रवेश पुष्णादि का अपना रस को अनुप्रवेश कराएगा रात्रि में चंद्रमा मर करके पुष्णादि सभी औषधियों को पुष्ट करता है ये कहा हुआ है मैं ही करता हूं वो काम चंद्रमा पर करके वही काम करता हूं इत्यादि भाष्य में कहते हैं <clears throat> टीका में ईश्वर ही पृथ्वी देवता रूपेण पृथ्वी में भूत शब्दितम जगत ऐश्वर्यण बले न विभर्ति ततो गुरु गुर्वी अपनी गुर्व्यपि पृथ्वी विदीर्य नाधो निपतति अत्र प्रमाण महा कहते थे ईश्वर जो होता है ही मारे अस्मात कारणात इस कारण से ईश्वर जो ईश्वर है परमात्मा है पृथ्वी देवता रूपेण सब में एक अभिमानी देवता होते हैं पृथ्वी रूप देवता रूप से पृथ्वी रूप से पृथ्वी देवता रूप से पृथ्वी को धारण करता हूं पृथ्वी को धारण करना पृथ्वी देवता मानी परमात्मा ही पृथ्वी देवता बन करके धारण करना यही है ईश्वर ही पृथ्वी देवता रूपेण पृथ्वी देवता के रूप से पृथ्वी प्रवेश पृथ्वी में प्रवेश करने वाला देवता पृथ्वी देवता रूप से प्रवेश करके ईश्वर भूत शब्द जब जगत भूत शब्द है कहा हुआ जगत है चराचर जगत तो भूत कहा है भूतानी बोला हुआ श्लोक में भूत माने जगत है जो दो प्रकार के जगत देख पाए जाते हैं भूत चराचर चर अचर थावर जंगम जो बोलते हैं उनको धारण परमात्मा ही करता है पृथ्वी देवता रूप से ये कहना है जगत ऐश्वर्य बल बल विभर्ती जो ईश्वर संबंधी बल को ऐश्वर बल बोलते हैं तस्य से अण लगा दिया ईश्वर संबंधी बल को ऐश्वर बोला जाता है ऐश्वर्य बल के द्वारा ही विभर्ती धारण करते परमात्मा ही धारण करते हैं किस किस रूप से घुस जाना पृथ्वी में पृथ्वी देवता रूप से पृथ्वी में प्रवेश करके जगत को धारण करते देगा विभक्ति विभर्ती ततो इस कारण से परमात्मा ने धारण किया हुआ तथा कारण इस कारण से गुरु भी अभी पृथ्वी गुरुत्व तो गुण से युक्त है पृथ्वी पृथ्वी में गुरुत्व तो गुण है दो पदार्थ में गुरुत्व तो पाया जाता है पृथ्वी और जल में तेज वायु आकाश तीन में नहीं पाया जाता तीन भूतों में गुरुत्व नहीं है दो ही पृथ्वी पर जल में है वजन इन्हीं में होता है कोई भी पदार्थ नीचे जाते हैं गुरुत्व वाले नीचे होते हैं ऊपर फेंको तो नीचे आएगा किंतु ऐसी जो गुरुत्व शक्ति से युक्त पृथ्वी अधोपतन नहीं हो रहा है कारण क्या है परमात्मा ने इसको धारण किया हुआ है ये कारण है तथा इसी हेतु से परमात्मा धारण करते हैं इसी हेतु से कहा भी अपनी पृथ्वी जो गुरुत्व गुण वाली पृथ्वी है जिसमें वजन शक्ति से भरपूर वजन शक्ति है पृथ्वी में विदीर्य अनाधो निपत कहा उसको टूट करके नीचे नहीं जा रही पृथ्वी इसमें प्रमाण देते हैं क्या तथा से मंत्र वर्ण करके प्रमाण दिया एर देव रुग्रा पृथ्वी से दृढ़ा इत्यादि कहा था सदाधार आधार पृथ्वी दो दो मंत्र दिया आदि बहुत सारे मंत्र हैं परस्य व हिरण्य गर्भात्मना अवस्थानात न मंत्र अन्य पर्दा एक भाव तो ये ये ना आदि सर्वनाम से बोला है सद आधार में कोई सर्वनाम बोला हुआ है कोई परमात्मा का नाम तो नहीं आया ये माने जिस जिसके द्वारा ये याद आए कोई भी हो सकता है और सदाधार में सपद आया सर्वनाम है कोई भी हो सकता है तो वह वह माने कौन कोई भी हो सकता है तो यह स्पष्टीकरण करते हैं परस्य भी तो परमात्मा ही है ना हिरण्य गर्भ रूपेण जो हिरण्य गर्भ संसार के बीच कारण बना हुआ है हिरण्य गर्भ गर्भात्मना हिरण्यगर स्वरूपेण अवस्थानात् सर्वत्र अवस्थान परमात्मा ये हिरण्यगर स्वरूप से किस रूप से हिरण्यगर रूप से इसलिए मंत्रयोर न अन्य परदा कहते हैं इसे ये दोनों मंत्र जो दिया अन्य के अर्थ में ए न में यद शब्द आया है स में सपद है सर्वनाम है कोई भी हो सकता है ऐसा अर्थ नहीं करनी चाहिए परमात्मा ही है हिरण्यगर्भ रूप से समस्त जगत का धारण कर रहा है समझना चाहिए ये कहा देवतात्मना द्यावा पृथ्वी और उग्रत्व उद्धरण उद्धरण सामर्थ्य में कहते हैं पृथ्वी देवता रूप से प्रवेश होकर के पृथ्वी को धारण कर रहा हूं बोल रहे परमात्मा तो देवतात्मना देवता रूप है देवता रूप से पृथ्वी देवता रूप के द्वारा द्यावा पृथ्वी और उग्रत्व समुद्धरम का देवता रूप से स्वर्ग द्यावा मान स्वर्ग देव का अर्थ द्यावा स्वर्ग और पृथ्वी जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का उग्रत्व तो उद्धरम उद्धार करने वाला पाई स्वर्ग को नीचे गिरने भी नहीं जा रहा हूं पृथ्वी को नीचे जाने भी नहीं दे रहा हूं ऐसी स्थिति है स्वर्ग मानते ऊपर मानते सब लोग ऊपर मानते हैं आने चाहिए नीचे नहीं आ रहा हो और पृथ्वी नीचे भी नहीं जा रही है मैं देवता ऋषि मैं दोनों का धारण कर रहा हूं उद्धार करके बैठा हूं कहा सामर, ये सामर्थ्य है परमात्मा में तथापि ईश्वरायत्तम एवं यद्यपि देवता रूप से धारण किया वो देखता फिर भी वो परमात्मा रूप से ही है वो देवता परमात्मा स्वरूप ही है वो ये कहना है तथा ईश्वरा इतम एवं स्वरूप धारणम जो स्वरूप का धारण हो रहा है वो देवता रूप से वो परमात्मा के अधीन है वो तद अपेक्षा दुर्बलत्व परमात्मा की अपेक्षा दुर्बल है उसके परमात्मा के कारण ही इसमें देवतात्व तो आया हुआ है उसकी अपेक्षा दुर्बल है देवता वह तो मुख्य तो परमात्मा ही है कारण करने वाला ईश्वर से के हेतुअंतर महा परमात्मा सर्वरूप है अन्य हेतु देते किंच करके कहा है पुष्टामिच औषधि सर्व इत्यादि आया किंच के द्वारा मैं सारे औषधि को पोषण भी मैं करता हूं क्या बन करके चंद्रमा बन करके ये कहना है रसात्मक सोम सोमरूपताम पत्तौ अभी कथम सोम औषधि ईश्वर सर्वा पुष्णादि ठीक है रसात्मक सोमरूप सिद्ध हो गया ठीक है रसरूप होता है वो परमात्मा चंद्रमा ऐसा होने पर भी सभी औषधियों का पुष्टि करने वाला ईश्वर कैसे सिद्ध हो गया रस रूप तो चंद्रमा सिद्ध हो गया फिर सभी औषधि को पुष्ट करने वाला ईश्वर कैसे ये प्रश्न उठता है तो कहा सर्वा इत्यादि सबसे कहा था सर्वा बृहवाद्या पुष्टामी पुष्टिपति रस स्वादुपति से कहा पुष्टि भी करता हूं मैं ही और रस से स्वादु सुस्वादु बनाता हूं को और सोमोभूता अपने रूप से साक्षात तो नहीं दिखेगा परमात्मा साक्षात दिखने पर तत्त रूप से काम करना है सोमोभूतवा बता दिया चंद्रमा बनकर क्या रसात्मक चंद्रमा बनकर सोम सर्व रसात्मक हो सोम चंद्रमा जो होता है सर्वरूप होता है तद्रूप होकर के मैं सभी औषध पुष्टि करने वाला भाई हूं कहा चंद्ररूप होकर के रस स्वभाव सर्व आकर है सभी रसों का खान है चंद्रमा सभी रस वहां पाए जाते हैं ऐसा है मधुर रस में तिक्त रस नहीं पाया जाएगा तिक्त में लवण नहीं पाया जाएगा हम्म, लवण में अम्ल नहीं पाया जाएगा कहीं कटु नहीं पाया जाता कहीं कसाय नहीं पाया जाता सब रस होते हैं किंतु चंद्रमा में सभी रस है सभी रसों को पुष्टि करने वाला चंद्रमा स्थिति है शोभा सही सर्वा औषधि सामान्य चंद्रमा सभी औषधियों को रसानुप्रवेशन पुष्णादि व चंद्रमा अपने ही रस के अनुप्रवेश के द्वारा सभी औषधि में प्रविष्ट होता है अपने रस के द्वारा उसके द्वारा पुष्टि करता है चंद्रमा वो चंद्रमा बन करके मैं ही पुष्ट कर रहा हूं पुष्टि कर रहा हूं ये कहते हैं भगवान ये कहा आगे कहते हैं और भी बात है दो श्लोक हो गया दो और हैं विभूति के लिए भगवता सर्वात्म के तो भगवान जो है ना सर्वरूप है जहां भी देखना देखने की दृष्टि से तो कहीं भी भगवत स्वरूप का दर्शन कर सकता है ये तिथि है कहीं भी है आदित्य आदि में तेज रूप से चंद्रमा में तेज रूप है रस रूप से इत्यादि परमात्मा दर्शन कर सकता है भगवता सर्वात्मत्व हेतु धर्म भगवान का सर्वरूप होने में अन्य हेतु भी है कहते किंच करके भाष्य में कहा यही श्लोक है अहम वैश्वानुरो भूत प्राणिनाम देहमाश्रित

वैश्वानर भूतव वैश्वानर अग्नि मान भीतर वाली अग्नि को वैश्वानर अग्नि कहा जाता है जाठराग्नि जिसको बोलते हैं पेट में होने वाली जठर माने पेट उसमें रहने वाले उनको जाठराग्नि वैश्वानर अग्नि उसी का नाम है अहम वैश्वानर भूतव मैं वैश्वानर होकर के वैश्वानर अग्नि बन करके प्राणी नाम देह में आश्रित प्राणियों के देह में आश्रित होता हुआ प्राणी के शरीर में प्राणी मात्र के शरीर में रहता हूं मैं देह में आश्रित हूं वैश्वान नाम के अवधि से प्राणापान समायुक्त प्राण अपान के सहारे से दो के सहारा लेकर इससे युक्त होकर के प्राण अपान दो प्रकार के माने ऊपर चलने वाली वायु नीचे चलने वाली वायु नाभि प्रदेश से जो ऊपर आती है वायु आता है उसको प्राण कहते हैं ऊपर से जब नाभि प्रदेश के अंदर जा रहा हो उसको अपान कहा जाता है वायु वही है उसकी गति दो प्रकार की गति है ऊपर आना है नाभि से नाभि से उठना है केंद्र है ये यहां से जब ऊपर की तरफ आए मुखनाशिका की तरफ आ जाए उसका प्राण कहते हैं और मुखनाशिका की ओर से वापस फिर नाभि में जाते समय में अपान कहते हैं भाई एक ही है थान भेद से क्रिया भेद से नाम भिन्न पड़ा है क्रिया भिन्न भिन्न एक ऊर्ध क्रिया है अधो क्रिया है वायु एक ही है पांच वायु नहीं बिता किंतु यहां दो भी चर्चा है प्राणापान स्वभावयुक्त प्राणापान से संयुक्त होकर के तब विशिष्ट होकर चतुर्वेदम अन्नम पचामी जो चार प्रकार के अन्न प्राणी खाते हैं या पीते हैं जो भी है उसको मैं पचाने का काम करता हूं गलाने का काम करता हूं कच्चा अन्न भी खाता है जैसे अमरूद आदि होते हैं कच्चा अन्न खाता है व्यक्ति किंतु गल करके पक करके गल करके बाहर आता है जितना रस है उसको निचोड़ करके शरीर में वितरण करना बाकी मूल भाग को फेंक देना थूल भाग को फेंक देने का काम करते हैं परमात्मा चार प्रकार के अन्न पचाने वाला मैं हूं कहिए भक्ष्य भोज्य जयत्व से चार प्रकार के अन्न होते हैं एक चबा करके खाने वाले जिसको भक्ष्य कहते हैं एक भोज्य होता है बिना चबाए खाने वाला जैसे हलवा आदि होते हैं वो भोज्य है और भक्ष्य माने चबा चबा कर खाना पड़ता है जैसे चना आदि है भक्ष्य दूसरा भोज्य जो बिना चबाए खाया जाता है तो हलवा आदि जैसा दलिया आदि है वो भोज्य में आते हैं तीसरा होता है स्वस्य चूसने वाला जैसे गन्ने आदि है एक आदि को हम चूसते हैं चूसने होते हैं कुछ पदार्थ जैसे आम आदि है चुष्य होते हैं चुष्य होते हैं चूसते हैं नींबू आदि चुष्य है चुष्य है और यही है बड़े चाटने योग्य होते हैं हम जैसे चटनी आदि ये चार प्रकार का मैं बताता हूं भक्ष भोज्य यही है चार प्रकार अन्न जो भी हम अन्न का व्यवहार करते हैं चार में से किसी एक प्रकार से आप प्रयोग करते हैं अन्न का या तो चबाएंगे या बिना चबाए निकलेंगे ऐसे होगा भुज्य होगा वो या फिर हम चूसेंगे जैसे गन्ना आदि है नींबू आदि है चूसते हैं या हम चाटेंगे जैसे चट्टी आदि है ये चार प्रकार का पचातों कहना है चंद्रविदम अन्नम पचामी अहम पचामी मैं पचाता हूं स्थिति है माने परमात्मा को देखना हो तो यही शरीर के भीतर भी परमात्मा दिखाई पड़ते हैं अग्नि रूप से पकाने का काम कर रहे हैं स्थिति है देखने की बुद्धि चाहिए उस प्रकार की बुद्धि बनानी होगी परमात्मा दर्शन सर्वत्र सर्वत्र व्यापक है कहीं भी हो सकता है दर्शन आदित्य में देख रहा हो आदित्य आदि में देख रहा हो चंद्रमा में देख रहा हो बता रहे हैं दृष्टि पैनी बनानी चाहिए तीक्ष्ण बनानी चाहिए किसके द्वारा उपासना के द्वारा यदि उपासना के द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण हो गई हो सूक्ष्म हो गई हो परमात्मा दर्शन सर्वत्र हो सकता है सर्वत्र व्यापक है परमात्मा किसी भी वादी ने परमात्मा को व्यापक ही माना हुआ है कुछ द्वैतवादी लोग हैं अनुमानते वाले विषय है लेकिन बहुत वादी यहां सब व्यापक मानते हैं ये कहा हुआ है अहमेव मैं ही बोलते हैं पहले दो श्लोकों में अपना विभूति बता चुके हैं मारे विशेष विषय सर्वत्र मेरे दर्शन न कर सो तो कम से इन स्थानों पर तो देखो यहां से तो बुद्धि बनाओ कम से कम परपात भाई करके आमेव वैश्वाणर वैश्वाणर उदरस्तो अग्निर्भूत्व वैश्वाणर पेट के भीतर रहने वाले अग्नि को वैश्वाणर अग्नि कहा जाता है ठीक है आमेव वैश्वाणर माने उदरस्तो उदर बने पेट है उसमें स्थित जो अग्नि है अग्निभूतवा पेट में पेट के भीतर रहने वाले अग्नि होकर क्यों कैसे ये वैश्वार कैसे नाम पड़ा कहते अयम अग्निर वैश्वार रो यो अयम अंत पुरुषे एन अन्नम पच्चते ये बृहदारण को आया है उपनिषद में ये बात अयम अग्नि ये जो अग्नि है ना माने इधम शब्द सन्निकृष्ट वाचक शब्द ये अग्नि बाहर वाले अग्नि नहीं अयम अग्नि ये जो अग्नि है वैश्वार ये अग्नि वैश्वार है यो अयम अंत पुरुष कहा ये पुरुष माने शरीर यहां ये शरीर के भीतर है अंत हमारे भीतर है अंत पुरुष है पुरुष के भीतर है शरीर के भीतर है जो अग्नि ये अग्नि बाह्य अग्नि नहीं लेना या अयम अग्नि यंत्र में अयम अग्नि वैश्वानरो यो अंत अयम अंत पुरुष है ये जो अयम मन यही अग्नि पुरुष है अंत मान शरीर के भीतर है ये न अन्नम ये न इदम अन्नम पचते जिस के द्वारा ये खाया हुआ अन्न पचता है जिस अग्नि के द्वारा पचता है हम्म, वो वैश्वानर अग्नि मैं हूं मैं काम कर रहा हूं भीतर बैठ करके खा पी के सो जाता है और अच्छा स्वादिष्ट बनाओ तो ज्यादा खाएगा हाँ वो तो निद्रा में पड़ा जा पड़ेगा पचाने का काम मेरा नहीं करता अगर गलत खाया हो तो जिस रास्ते से खाए उसी बाहर फेंक देता हूं बबर कर देता हूं करा भी देता हूं यदि गलत खाया हो ऐसा भी काम उसी करता हूं ऐसा तो कहा अयम अग्नि हो यो अयम अंत पुरुष है ये न इदम अन्नम पच्चते कहा यह अग्नि वैश्वानर है कौन है यो अयम अंत पुरुष है कौन अग्नि कहा यह अग्नि ये शरीर के भीतर जो अग्नि है ये न इदम अन्नम पचते जो ये ये अन्न जो खाया हुआ अन्न है इसका पकाया जाता है ये वैश्वानर अग्नि ये कहा इत्यादि श्रुते और भी बहुत सारे सामने ऐसे श्रुतियां या वृद्धा उपनिषद का एक मंत्र दे दिया वैश्वानर हम हम्म। वैश्वानर भूत आए ना वैश्वानर वैश्वानर सन वैश्वानर होते हुए परमात्मा प्राणिनाम प्राणवताम प्राणिमान तो मतलब प्राण वाले को प्राणी कहा जाता है प्राण वाले जो होते हैं प्राणवताम देह में आश्रित प्रविष्ट देह में आश्रित प्रविष्ट है वाग्नि परमात्मा यही शरीर के भीतर अपने शरीर के भीतर परमात्मा प्रविष्ट है किंतु ये ये तीसरी आंख की जरूरत है ये दो आंख काम नहीं करते विषय देखने के लिए है परमात्मा दर्शन के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए विमूढ़ा नान पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष उपासना के द्वारा सूक्ष्म हो गई बुद्धि जिसकी वो ज्ञान चक्षु तभी जान सकता है प्राणिना मान प्राण बताऊं देह में आश्रित मान प्रविष्ट देह में आश्रित है प्रविष्ट है मैं ही हूं कहते हैं प्रविष्ट प्राणापान समायुक्त प्राण और अपान वायु को साथ होकर के खाया हुआ अन्न को पचाता हो कहते हैं प्राणापानाभ्यम समायुक्त संयुक्त प्राणापान के द्वारा संयुक्त होता हुआ हम्म। पचाने मैंने पक्तिम करो भी मैं पकाता हूं एक अर्थ है चतुर्विधम कहा चतुष्प्रकार अन्नम कहते हैं चार प्रकार के अन्न जो प्राणी खाते हैं वो चार प्रकार के होते हैं अन्न अद्यतित अन्न जो भी खाया जाए उसको अन्न कहा जाए चाहे फल हो कोई भी हो अद्यते भी अन्न अन्न शब्द की व्यापकता है हाँ। लोगों में तो अन्न माने आज एकादशी अन्न नहीं खाना तो फल अन्न में नहीं लेते फलाहार को नहीं लेते लोग लेकिन है जो खाया जाए अधवक्षण धातु है जो भी खाया जाए वो अन्न है प्राणियों के द्वारा तो खाया जाता है यदि अद्यते तद अन्न ये चार प्रकार के खाया जाता है प्राणियों से द्वारा पचामी मैंने पक्तिम करोगे चतुर्विधा मैंने चतुष्प्रकार अन्नम कहा चार प्रकार का अन्नम अन्न माने असनम असन माने वही खा, खाने योग्य को असन बोलते हैं अस भोजन धातु है भोज्यम भक्षम चोष्यम लेह्यम चका ये चार प्रकार है चबा चबार के खाना पड़े जैसे रोटी आदि है इसको कहते हैं भक्ष्य चना आदि है ये भक्ष्य अन्न है भोज्य पहले भोज्य चार माने बिना चबाए खाने वाले आलू आदि जैसे दलिया आदि होते हैं उसको कहते हैं भोज्य और भक्ष्य माने चबा चबा खाना पड़े उसको भक्ष कहा जाता है स्वस्थ मान चूसने योग्य जो होते हैं जैसे आम आदि होते हैं चूसते हैं नींबू आदि होते हैं लेय मैंने चाटने वाला जब भोक्ता वैश्वानर एक खाने वाला कौन है भोक्ता अनर है अग्नि है वैश्वानर है अग्नि हम्म, प्राण अपान से युक्त होकर के भगवान खाते हैं खाने वाले भगवान होते हैं भोज्यम अन्नम शोभा कहते हैं भोक्ता और भोज्यम दो प्रकार की चर्चा शांत होकर भाई भोक्ता भोज्य तो भोक्ता परमात्मा है प्राण और अपान से युक्त होकर के भोक्ता बनते परमात्मा और भोज्य होता है अन्न जो होता है सोम सोम शब्द से कहा जाता है दोनों भोक्ता और भोग्य भोज्य भोज्य से सोम लेना है और भोक्ता माने अग्नि अग्नि और सोम करके आता है तदे तद उभयम जो अग्नि और सोम है ना बना हुआ भोक्ता को अग्नि कहा हुआ है और अन्न को सोम कहा हुआ है तदे तत् उभयम ये दोनों के दोनों अग्नि सोमऊ ये जो अग्नि और सोम दो हैं जो भोक्ता और भोग्य बोलते हैं जो दो सर्वम इति पश्य तो ये सब के सब हम्म, दो कोटि को लेकर के देखता हो भोक्ता परमात्मा है और भोज्य सब के सब सोम है भोक्ता माने अग्नि है बचाने वाला काम कर रहा है वैश्वान अग्नि होकर के परमात्मा वो भोक्ता है अग्नि और भोज्य जो है वो सोम है वही सबके सब जगत भोक्ता और भोग्य दो ही है माने अग्नि और शोभ है ये तो जानता हो इति पश्चात हो अन्न दोष लेपो न भवती उसका अन्न दोष जो माने गलत प्रकार का नखाया खाया होगा तो पाप लगने आदि दोष नहीं होता उसको अग्नि और सोम को जो जानता हो सर्वरूप परमात्मा को दो जगत में दो रूप है भोक्ता और भोज्य माने अग्नि और सोम भोक्ता परमात्मा है भोज्य जगत के पदार्थ सोम है ये सब जानता हो तो अन्न दोष से द्वारा होने वाला जो पाप था माने अन्न में दोष माने जाते हैं जाति दोष दृष्टि दोष संग दोष इस प्रकार के दोष मानते हैं जाति दोष जाति से ही दूषित है पदार्थ नहीं खाना चाहिए जाति से दुष्ट है और एक होता है दृष्टि दोष देखने में दोष लगता है अच्छा नहीं लगता जैसे ये टमाटर आदि जो बोलते हैं ना वैष्णव लोग नहीं खाएंगे दृष्टि दोष है मांस जैसा लगता है वैसे जाति से दोष दुष्ट नहीं हो लहसुन प्याज आदि जैसा नहीं है दृष्टि में दोष है दृष्टि दोष संसर्ग दोष तीसरा दोष छुआछूत हो गया कुल्ला कुत्ता बिल्ली आदि आकर के उसको पर्स कर दिया जो भी हुआ मुख लगा दिया संसर्ग दोष आता है ऐसा न नहीं खाना चाहिए बोलते हैं किंतु ऐसे दो रूप में जो जगत को और परमात्मा को देखता हो अग्नि और सोम रूप में अथवा भोक्ता और भज्य रूप में तो उसको अग्नि दो अन्न दोष से होने वाला जो पाप था नहीं लगता ये कहा हुआ है ठीक है हम कहते हैं अहम एवं यदि अहम शब्द न परो लक्ष्य हैं यहां अहम शब्द सर्वनाम है किसी को भी लिया जाता क्यों अहम शब्द के द्वारा क्या है परमात्मा ही लक्षित होता है कहते हैं अहम वैश्वान भूतवा में यही है अहमेव इति अहम ना हम एव आया हुआ है पद यहां अहम ना अहम शब्द के द्वारा परो लक्ष्य परमात्मा ही लक्षित होता है यहां आगे प्राणापान समय वैश्वानुरो भूतवा है भूतवा का संबंध होगा पचामी के साथ अहम वैश्वानुरो भूतवा चतुर्विधम अन्न पचामी वहां जाके अन्वय होगा इसका बोलते हैं भूतवा शब्द का अन्वय होगा खा करके फिर आगे क्रिया चाहिए उसको भूतवा जो है पूर्व क्रिया है तो समान कर्तव्य पूर्वकालीन सूत्र है पूर्वकाल में उत्तरकाल वाला क्रिया कौन है पचान उसके साथ अंत तो होगा ठीक है परस्व जाठरात्मनाथ गौ श्रुति में प्रमाणित परमात्मा ही वैश्वान रूप से जाठरात्मा ने पेट में रहने वाला अग्नि को जाठर जाठर स्वरूप अग्नि बोलते हैं जाठर अग्नि बोलते हैं जाठर रूप मान पेट में आश्रित होकर रहने वाला अग्नि होने पर श्रुति में प्रश्रुति देते हैं क्या श्रुति वैश्वारण श्रुति अयम अग्नि वैश्वानरो यो अयम अंत पुरुष न एकदम अन्नम पंचते ये कहा हुआ है बाह्यम भौवम अग्निम व्यावर्त तो यहां बाहर जो अग्नि है ना पृथ्वी में होने वाले को भौमम अग्नि कहते हैं काष्ठादि पृथ्वी है काष्ठादि गंधवत्तम पृथ्वी अलक्षण गंधा जहां पाया जाए पृथ्वी है ऐसा न्याय से सीखना चाहिए तो काष्ट आदि जो पृथ्वी है उसे वहां होने वाले अग्नि को व्यावृत्ति करते हैं नहीं क्या करते हैं योयम अंत पुरुषे कहा हुआ है ये वृद्धार्थ कहा ये शरीर के भीतर है जो अग्नि कहा बाह्य अग्नि को नहीं लेना है अग्नि शब्द का था योयम अंत पुरुषे कहा ये यही अग्नि कौन पुरुषे अंत पुरुष के भीतर शरीर के भीतर है पुरुष देहाकार पुरुष है इससे भीतर का आगे टीका में बोलते हैं देहांतर आरंभकम तृतीय भूतम व्यवचनती अग्नि जो है देह को पैदा करने वाला तृतीय भूत होता है आकाश वायु तेज एक तृतीय भूत भी है पंचभूतों में आकाश वायु तेज तृतीय भूत कौन तेज शब्द है आया जो चतुर्थ भूत जल पंचभूत पृथ्वी है जब गिरते है तो, तो देह देह को बनाने वाला ये कहते हैं देहांतर आरम्भकम अन्य देह को पैदा कर अभी ये देह में आगे भावी शरीर पैदा करने वाला पंचभूत मिलकर के बनना है वह तृतीय भूत का तेज है आकाश वायु तेज तेज उसके व्यावृत्ति करते हैं नहीं वो तेज नहीं लेना है अग्नि शब्द के द्वारा वो भी तेज है अग्नि है उसको नहीं लेना हम वैश्वान शब्द से बाहर के पृथ्वी में होने वाला अग्नि भी नहीं लेना वो तेज भी नहीं लेना अयम अग्नि वैश्वान यो मंत्र पुरुष के द्वारा व्यवस्थित हो गया उसका बाहर वाला तो भी नहीं मैंने तृतीय भूत भी नहीं लेना जो पंचभूत में तृतीय भूत होता है आकाश वायु तेज वो भी नहीं क्यों ये ना एकदम अन्नम पचतेगा उस उस अग्नि को तो अन्न पकाया नहीं जाता यह अग्नि खाया हुआ अन्न को पचाने वाले अग्नि भीतर है ये कहा आगे जाठरात्मना परस्थिति चेत यदि परमात्मा वैश्वाल रूप से पेट के उदर पे बैठा है वो जाठर रूप से जाठर माने होता है पेट के भीतर वाले को जठर में होने वाले को जाठर बोले जठर माने पेट होता है पेट के भीतर होने वाला इस माध्यम से परमात्मा यदि स्थिति है यहां शरीर में है तस्य देहाश्रित तत्व सिद्धम देहाश्रित तो स्वतः सिद्ध हो गया यदि इसमें बैठा हो तो न पुरुष पृथक वक्तव्यम फिर दोबारा नहीं कहना चाहिए कहते हैं यदि यहां है तो वैश्वान रूप से हो तो जठा जाठर में तो है ही है तो होने पर फिर देह में आश्रित करके दोबारा नहीं बोला देह में आश्रित नहीं बोलना चाहिए यदि जाठर जाठर रूप से अग्नि भीतर है तो शरीर के भीतर ही सिद्ध हो गया फिर देह में आश्रित क्यों बोलना मैं पुनः पुनः पुनः बोलना होगा ये बार बार बोलना होगा दोष है पौनिक दोष है ये पूर्वादि की शंका है तो कहते हैं पुरुष विदम पुरुषे अंत प्रतिष्ठम भेद इति स्तुति में आश्रित कहते हैं पुरुषाकार है पुरुष मतलब पुरुषाकार शरीराकार पुरुषे अंत प्रतिष्ठित पुरुष के भीतर में प्रतिष्ठित है स्मृति बोल रही है स्मृति को लेकर जो जानता है इत्यादि आज स्मृति को लेकर प्रविष्ट कहा भीतर प्रविष्ट है देह में आश्रित होना बाहर भी आश्रित हो सकता है भीतर प्रविष्ट कहा परस्य जाठरात्मरो अन्न पाके सहकारी कारण वहां परमात्मा अग्नि होकर के पकाया हुआ अन्न को पकाते हैं तो सहकारी कारण चाहिए केवल मूल कारण मात्र से काम नहीं होता देखो घट बनाना है मृत्यु का मूल कारण है मिट्टी से बनना है क्योंकि तो, तो सहकारी कारण चाहिए दंड चक्रादि कुलाल आदि की आवश्यकता होगी खाली मिट्टी से घट बनने वाला नहीं सहकारी कारण चाहिए तो भगवान किसको सहकारी कारण मानते प्राणापान समायुक्त प्राणापान से युक्त होकर के सहकारी कारण मेरे ये होते हैं अन्न पचाने के लिए प्राणापान समायुक्त पचामंडम चतुर्विधम कहा हुआ है संयुक्तत्व तत्व कहते हैं संयुक्त प्राण अपान से संयुक्त कहा हुआ है संयुक्त माने क्या है संधुक्षितत्व माने जीवन देने वाला हो जाता प्राणियों प्राणी को जीवन देने वाला होता है तो माने संपूर्वक दुख से धातु है निष्ठा किया हुआ है दुख से धातु होता है संदीपन अर्थ होता है क्लेशन अर्थ होता है जीवन अर्थ भी होता है जीवन अर्थ है प्राणियों को जीवन देने वाला होता हूं यदि अन्न को नहीं पचाया जाए मेरे द्वारा प्राणी को पेट में बैठकर तो प्राणी नष्ट हो जाएंगे उनके जीवन देने वाला होता हूं मैं अन्न के द्वारा जीवन है प्राणी होगा ये कहा अन्न से चातुर्विध्यम प्रकटेगी अन्न चार प्रकार के होते हैं कोई भी अन्न हम खाते हैं अन्न तो असंख्य है तो खाने के तरीका चार है या तो चबाकर या ऐसे बिना चबाए खाने वाले या चाट करके या चूसने वाले चार प्रकार होते हैं उपभोग के समय चार प्रकार में कोई एक प्रकार होगा जैसे विषय अनेक होने पर पांच ही विषय होते हैं हमारे उपभोग के समय पांच रुपये आएंगे वो हमारे सामने ठीक है इस प्रकार अन्य भी चार ही प्रकार के होते हैं ये सिद्ध करना है भोज्यम इत्यादि कहा हुआ है <clears throat> कौन है तेरा भोज्यम भक्षम स्वस्यम लेघम सा कहा हुआ है चार प्रकार होते हैं भक्ष्य होते हैं भोज्य होते हैं भक्ष्य होते हैं और चौस्य होते हैं लेय होते हैं ये चार हैं कहा ठीक है मैं कहते हैं भोक्तरी वैश्वान दृष्टि भोज्य शोभ दृष्टि भोक्ता में वैश्वान अग्नि दृष्टि करना क्या करना भोक्ता परमात्मा उसमें अग्नि दृष्टि करना अभी अग्नि बन करके मान पचा रहे हैं अग्नों को और भोज्य तो जो विषय है उनमें क्या करना शोभ दृष्टि करना दृष्टि एवं भोज्य रूपम सर्वम जगत ये भोक्ता और भोज्य रूप सारा संसार है अग्नि और सोम रूप है भोक्ता और भोज्य रूप है सारा संसार इस प्रकार जो समझता हो कहा जगत अग्नि सोमात्मना अग्नि और सोम रूप से स्थित है वो भोक्ता को अग्नि शब्द से समझना है और भोज्य को सोम शब्द से समझ रहा है सोमात्मना भुक्ति काले ध्याय तो जो भोजन के काल में ऐसा चिंतन करता है सारा संसार दो रूप में है भोक्ता और भोज्य रूप में है भोक्ता परमात्मा है बाकी सब भोज्य है माने परमात्मा अग्नि रूप में है बाकी सब क्षोभ रूप में है ऐसा जो चिंतन करता हो कब भुक्ति काल है भोजन के काल में भोजन करते समय में ध्याय हाँ, तो भोक्तुर कृतो दोषो न जो ऐसे भोक्ता जो होगा ऐसा चिंतक होगा जो उसके लिए भोग अन्न के द्वारा होने वाले दोष नहीं लगता ये कहना है ना इति प्रासंग सफलम ध्यान दर्शे प्रासंगिक ध्यान उपासना चिंतन बुझाते तो हैं कहा भोक्ता इत्यादि कहा हुआ है यहां ये कहना चाहते हैं दो ही है भोक्ता वैश्वान और अग्नि ये समझना है और भोज्यम अन्नम सोम हाँ, भोज्य है अन्न और सोम है ये समझना ये तद उभयम अग्निशोभ या अग्नि और सोम सर्वम ये सब के सब सारा संसार में दो ही पदार्थ होते हैं अग्नि और सोम इति पश्य तो ऐसा जानने वाले का अन्न दोष लेपो न का अन्न दोष से होने वाला जो पाप था वो नहीं होता ये कहा है आगे टीका है इत सर्वात्मत्व न सर्वव्यवहार पदत्व ईश्वर से आगे भी हेतु देते हैं संपूर्ण व्यवहार के आश्रय है परमात्मा परमात्मा के बिना कोई व्यवहार हो नहीं पाएगा कोई भी चलने चेतन के बिना कोई व्यवहार हो नहीं सकता जड़ में इत इस हेतु से भी सर्वात्मत्व न सर्वरूप के द्वारा सर्व व्यवहार पद सब बन करके सब व्यवहार कर रहे हैं परमात्मा ही कर रहे हैं ईश्वर में है व्यवहार सर्वरूप होकर के सब मनुष्य बनकर मनुष्य का व्यवहार पशु बनकर पशु का व्यवहार सब ऐसी स्थिति है ये कहना है किंच करके कहना है भाष्य में हाँ, सर्वस्व हम आगे श्लोक आएगा सबके हृदय में मैं तो प्रविष्ट हूं प्राणी मात्र के हृदय में मनुष्य मात्र नहीं चौरासी लाख योनि में जो प्राणी है प्राणी मात्र के हृदय में प्रविष्ट हूं मेरे कारण ही व्यवहार कर पा रहे हैं प्राणी नहीं तो व्यवहार नहीं कर सकते इत्यादि ये बताना है समय हो गया है यही रखते हैं फिर करें ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णा पूर्ण पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ